फिर जब इब्राहिम ने देखा कि उनके हाथ खाने तक नहीं बढ़ रहे तो इब्राहिम ने उनको अजनबी समझा और अपने दिल में उनसे डरने लगे फरिश्तों ने कहा आप मत डरें बेशक हमें कौम लूत की तरफ भेजा गया है